भगवान के मन में बड़ी कृपा का उदय हुआ कि कि देखो इतनी तपस्या करती है इतना व्रत करती है और दान नहीं करती है तो इसको बहुत दुख भोगना पड़ेगा तो एक खप्पर वाले का कापालिक का रूप ग्रहण किया भगवान ने और उसके दरवाजे पर गए तो भैया हमको कुछ दे दे उसको बहुत गुस्सा आया गुस्सा आया तो ये फूटे हुए घड़े का खपरेल था उसके पास वो उठा के पटक दिया उसके ऊपर तो भगवान तो खप्पर वाले बन के गए तो ले लिया उसको फिर जब वो मरी तो भगवान की बड़ी तपस्या की थी उसने भगवान के धाम में गई उसको एक बहुत बढ़िया महल मिला महल मिला तो उसमें न कुछ खाने को था न पीने को था न और न कपड़ा था न लगता था कुछ नहीं बस मकान बहुत बढ़िया था देखो ये पुराण की कथा अब वो रोने लगी भगवान के सामने कि हे भगवान हमको इतना बढ़िया तो मकान मिला पहनने को तो कपड़ा नहीं और खाने को अन्न नहीं मैं इस मकान में रह के क्या करोगे तो भगवान ने कहा कि बेटी तुमने किया तो सब कुछ तो इतनी बड़ी तपस्या थी लेकिन दान कुछ नहीं किया तो यदि अन्न दान किया होता तो तेरे लिए अन्न होता वस्त्र दान किया होता तो वस्त्र होता अब तो फिर से मर्तलोक में जा देवता तो लोग तुम्हारा दर्शन करने आएंगे कि बड़ी पवित्र आत्मा है बड़ी पवित्र आत्मा है तो तुम किवाड़ी बंद करके भीतर से बैठ जाना बोले मैं नहीं आ, मैं दर्शन देने वाली नहीं हूँ तुम लोग क्या होती है तो भाई दर्शन कैसे देगी कि सटकिला एकादशी जो है ना आज की एकादशी का नाम सटकिला है सटकिला एकादशी की महिमा कोई सुनाओ महात्म्य सुना दो जीवन में क्या सुख है ये जो गुलामी मनोवृत्ति तुम्हारे मन में है गुलामी की मनोवृत्ति इस मनोवृत्ति को भस्म करने के लिए वेदांत आया हुआ है तो आपकी परतंत्रता मिटाकर स्वतंत्र बनाने के लिए भय मिटाकर निर्भय बनाने के लिए निर्लोभ बना करके अपने परमानंद का अनुभव कराने के लिए ये वेदांत आया है बोला कहो कि वेदांत भी द्वैत का वर्णन करता है क्यों करता है देखो जो चीज बिना वेद वेदांत के ही मालूम पड़ रही है उसका वर्णन वेद वेदांत क्यों करेगा जिस भेद है ये दूसरे हैं हम दूसरे हैं ये अपना है ये पराया है, ये तो आपको बिना भेद वेदांत के ही मालूम पड़ रहा है यही बताने के लिए भेद आया है वो तो, वो तो आपने बिना भेद वेदांत के बिना पढ़े लिखे मान लिया है कि ये है और ये मेरा है और ये तेरा है जो चीज आप बिना वेद बे, वेदांत के जान सकते हैं उसको बताने के लिए वेद वेदांत नहीं आता जो आपको बाज बता सकते हैं कहानीकार बता सकते हैं अकलमंद लोग अनुमान करके बता सकते हैं अंदाजी बात बताने के लिए वेद वेदांत नहीं आया है न इंद्रियों के द्वारा बताया हुआ प्रत्यक्ष वेद वेदांत से जानने के लिए है और न तो अनुमान लगाया हुआ कोई अंदाजी चीज बताने के लिए वेदांत आया है वेदांत आया है एक सच्ची चीज बताने के लिए जिसको आप और किसी तरह से नहीं जान सकते अज्ञात ज्ञापक है वो इंद्रियों से अज्ञात मन से अज्ञात मन ध्यान से भी अज्ञात प्रेम से अज्ञात जो चीज इंद्रियों से मालूम नहीं पड़ सकती प्रत्यक्ष गम्य नहीं है हाँ। जो आसक्ति से नहीं मालूम पड़ सकती क्योंकि आसक्ति तो सत्य के ज्ञान में सहायक ही नहीं है जिसमें आसक्ति होगी उसमें गुण ही गुण दिखेगा जिसमें द्वेष होगा उसमें दोष ही दोष दिखेगा ये अंदाज लगाने के लिए चीज नहीं है क्योंकि अंदाज तो परोक्ष के बारे में लगाया जाता है अपने बारे में अंदाज नहीं लगाया जाता स्वप्रत्यक्ष अनुमान से अनुचित आता जो अपना आपा है जो अपना आपा है उसके लिए अंदाजी बात नहीं होती है वो तो अनुभव है साक्षात अनुभव है उसको अनुभव कराने के लिए वेदांत आया है वेदांत कहता है अमुक चीज के भोग में सुख है ये तुम्हारी गलत धारणा है अमुक के मिलने पर तुम बड़ी बड़े हो जाओगे का ये तुम्हारी गलत धारणा है अमुक के अमुक के बिना तुम जी नहीं सकते का ये तुम्हारी गलत धारणा है आनंद परमानंद सहोदस्तम सुखी रहो तो वेद ने कहा कि देखो भाई तो हम भेद नहीं बताते भेद देखना हो तो तुम अपनी आंखों से देख लो कानों से सुन लो नाक से सुन लो जीप से चख लो जीप से खट्टा मीठे का भेद मान मालूम पड़ जाएगा ना है? और कान से ये संगीत है कि बेसुरा है ये आपको कान से मालूम पड़ जाएगा ठीक है मालूम कर लो कहीं काला है कि गोरा है आंख से मालूम पड़ जाएगा ये कठोर है कि मृदु है त्वचा से मालूम पड़ जाएगा और इन्हीं के आधार पर आप अक्कल लगाओगे अनुमान लगाओगे हाँ, तो कुछ आगे पीछे की बात भी सोच सकते हो तो ये बात नहीं है तो जो चीज दूसरे प्रमाणों से सिद्ध है उसको सिद्ध करने के लिए वेद नहीं आया एक बात नोट करो जो बात और किसी भी तरह आप जान सकते हैं यदि वेद वही बतावेगा तो इंद्रियों के ज्ञान का अनुवाद करेगा वो अनुवाद करेगा वो तो अनुकरण हुआ वो तो नकल हुई आंख ने बताया ये लाल है तो वेद ने बताया ये लाल है तो पहले आंख ने देखा फिर वेद ने बताया तो वेद आंख का पिछलग्गू नहीं है बोला हाँ। इसको पिछलज्जू बोलते हैं पिछलज्जू नहीं है और पहले जीव ने बताया कि ये मीठा है ये खट्टा है और फिर वेद ने बताया कि ये मीठा और खट्टा है हाँ। जो किसी भी इंद्रिय से ज्ञात नहीं होता ना हाँ, मानांतर प्रसिद्धत्वा ये जो भेद है दुनिया में ये दूसरे प्रमाणों से सिद्ध है ये बताना वेदांत का काम नहीं है दूसरी बात नोट करने की है क्या कि कोई भी वस्तु अपने अभाव के अतिकरण में दिख रही है जहां वो नहीं है वहां दिख रही है ये मिट्टी कहाँ है कि पानी में कि पानी कहाँ है का आग में कि आग कहाँ है कि हवा में कि हवा कहाँ है कि आसमान में आसमान कहाँ है कि मन में कि मन कहाँ है तो साक्षी में साक्षी कहाँ है बोले तो साक्षी तो चेतन है जन्मात्र है अद्वितीय ब्रह्म है तो जहाँ जो नहीं है वहाँ वो बात रहा रहा है और सच्चाई का ज्ञान होने पर वो निवृत्त हो जाएगा इसलिए मिथ्या वस्तु का प्रतिपादन करना वेद का काम नहीं है वेद सत्य का प्रतिपादन करता है वेद मिथ्या का प्रतिपादन नहीं करता दो बात है एक तो जो दूसरे प्रमाण से सिद्ध है वो वेद का प्रतिपाद्य नहीं है और एक जो अपने अभाव के अधिकरण में भाषमान है वो भी वेद का प्रतिपाद्य नहीं है अच्छा भाई हाँ, संसार का प्रतिपादन करने से ही क्या आपको मोक्ष मिल जाएगा दुनिया को जो जानते हैं दुनियादारी को भेद को जो जानते हैं वो क्या सब मुक्त हो जाते हैं संसार के ज्ञान से तो मुक्ति नहीं होती है इसलिए वेद संसार का प्रतिपादन नहीं करता क्योंकि जिस प्रयोजन के लिए वेद प्रतिपादन करता है आपको नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त बोध कराने के लिए आप में न पाप है न पुण्य है न जन्म है न मरण है न आप में लोक है न परलोक है न आना है न जाना है न सुख है न दुख है आपके इस निर्मुक्त स्वरूप का प्रतिपादन करता है वेद तो क्या आप संसार का प्रतिपादन करेगा वेद तो ये मिल जाएगा आपको नहीं मिलेगा और साफ साफ वेद श्रुत्यंतर विरोधाच क्या क्या प्रयोजन हुआ ये संसार मानांतर प्रसिद्ध है भेद जो है वो दूसरे प्रमाण से सिद्ध है एक भेद मिथ्या है दो भेद के प्रतिपादन से मोक्ष नहीं मिल सकता तीन और श्रुति स्पष्ट रूप से भेद का विरोध करती है श्रुत्यंतर विरोधाच इसलिए वेद का प्रतिपाद्य भेद नहीं है वेद भेद का प्रतिपादन नहीं करता है भविष्य पुराण में एक कथा है एक युग ऐसा आवेगा जब भारतवर्ष से पश्चिम से कुछ लोग आएंगे हाँ पश्चिम से ऐसा भविष्य पुराण में वर्णन है तो उनकी दाढ़ी मूछ लाल लाल होगी ऐसे वर्णन है उनकी दाढ़ी मूछ जो है हाँ, वो लाल लाल होगी और खाने पीने में उनका आचार विचार भारतीयों के विरुद्ध होगा और बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के छाती पीते गए देंगे बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के और ईश्वर को भी पुकारना होगा तो बड़े जोर से चिल्लाएंगे चिल्लाना उनका धर्म होगा ऐसे भविष्य पुराण में लिखा है उच्च भाषण हाँ। और वो जन्मोत्सव नहीं मनावेंगे मरणोत्सव मनावेंगे बोला वो भविष्य पुराण में जिक्र है वो मरने का उत्सव मनावेंगे पैदा होने का उत्सव नहीं मनावेंगे अब आप सोच रहे हो कहीं इनमें से आप भी तो कुछ नहीं करते हैं अयमयमभयो मुक्तिरात्मैव नान्या पूर्णानन्दाय तस्मै प्रणीतमनसा सम्बधेऽहम् नमांसि एक होती है भौतिकवाद की प्रणाली और एक होती तो है आध्यात्मिक प्रणाली तो उसका फर्क कैसे समझो एक आदमी कोई काम करने लगता है तो उसका नाम रख देते हैं ये अमुक काम करने वाला है जैसे मोटर चलाने लगे तो ड्राइवर रसोई बनाने लगे तो पाचक रसोईया पढ़ाने लगे तो अध्यापक ये कर्म करने पर करने वाले का नाम रखा जाता है ये भौतिक प्रणाली है आध्यात्मिक प्रणाली ये है कि आप पहले अभिमान धारण कीजिए पहले डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर लीजिए डॉक्टर हो जाइए तब चिकित्सा कीजिए आपको कानूनी अधिकार प्राप्त होगा चिकित्सा करने का पहले सिपाही हो जाइए सिपाही में भर्ती हो जाइए उसके बाद आपको सिपाही के जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करने का अधिकार होगा आप पहले ब्याह कर लीजिए फिर पत्नी का धर्म पालन कर सकते हैं आप ज्ञान के पहले जब तक पत्नी हुए नहीं तब तक पत्नी धर्म का पालन नहीं कर सकते और जब तक पति हुए नहीं तब तक पति धर्म का पालन नहीं कर सकते आप संसार के कर्म में और धर्म संबंधी कर्म में जो अंतर है ना उसको भी समझिए तो पहले यज्ञोपवीत संस्कार करा के विजाति बन लीजिए तब संध्या बंदन कीजिए ये आध्यात्मिक धर्म की पद्धति है और चाहे जो संध्या बंदन करने लगे और विजाति हो जाए ये धर्म की पद्धति नहीं है माने भीतर से बाहर आना ब्रह्मचर्य धारण करके ब्रह्मचारी बनिए और ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कीजिए हाँ, गृहस्थ बनिए गृहस्थ धर्म का पालन कीजिए जैसे गृहस्थ हो के अगर वो ऋतु धर्म का पालन नहीं करता है तो गृहस्थ धर्म से च्युत होता है ऐसे और सन्यासी पहले बन जाओ फिर सन्यासी धर्म का पालन करें तब आपके कर्तव्य आपके सामने आएंगे हम गृहस्थ हैं तो हमको ऐसा करना चाहिए हम सन्यासी हैं तो हमको ऐसा करना चाहिए आध्यात्मिक पद्धति में पहले भीतर भाव धारण करना होता है और उसके अनुसार हमारे कर्तव्य बनते हैं प्रकृति में पहले कर्म करने लगते हैं और फिर भाव धारण करते हैं तो गांधी जी से किसी ने कहा डॉक्टर भगवान दास ने कहा कि जो यहाँ राज्यपाल थे ना श्री प्रकाश इनके पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे वो हाँ, एशिया के विद्वानों में उनकी ही गणना थी तो गांधी जी से बोले कि तुम ब्राह्मण हो तो गांधी जी बोले कि बाबा ब्राह्मण बना तुमको मुबारक हो तुम ब्राह्मण बनो हम तो अपने पाखाने की सफाई करते हैं तब तो भंगी होते हैं और जब अपने कपड़े धोते हैं तो धोबी हो जाते हैं हम तो दिन भर में चार जात बदलते हैं ये आपको किसी कारण से हम सुना रहे हैं आपको क्या संसार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करना है आप अभिमान को बुरा मत समझिए अभिमान बहुत जीवन में एक बहुत आवश्यक तत्व है अभिमान हम सरकारी सिपाही हैं चौराहे पर खड़ा रहना और आने जाने वाले जो यातायात के साधन हैं वाहन हैं उन पर नियंत्रण रखना हमारा धर्म है चोर को पकड़ना हमारा धर्म है अपना धर्म मान के अपने कर्तव्य का पालन तुम कब कर सकोगे जब अपने को कहीं बैठा लोगे और यदि तुम स्वयं कहीं नहीं बैठोगे तो यहां से वहां वहां से वहां कभी ये हुए कभी वो हुए कभी व्यापारी बने तो कभी सैनिक बने तो कभी पंडित बन गए को अपने कर्तव्य के संबंध में जो दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए वो नहीं होगी अच्छा आप पति बने और पति के कर्तव्य का पालन न करें आप पत्नी बने और पत्नी के कर्तव्य का पालन न करें तब पकड़े जाएंगे हे जीवात्मा जी आप क्या बने हो ये देखो अपने बेटे के बाप हो तो बाप का कर्तव्य पूरा करोगे और बाप के बेटे हो तो बेटे का कर्तव्य पूरा करोगे तो बोले ना महाराज हमको तो आत्मज्ञान हो गया ना हमारा कोई बाप है ना बेटा है तब आप आपकी कर्तव्य से भी मुक्त हो गए और बेटे के कर्तव्य से भी मुक्त हो गए हो ना क्योंकि तो आप ये पति पत्नी का तलाक तो कानूनी है वो हाँ, आत्मज्ञान से सबको तलाक हो जाता है बाप पने को भी तलाक हो जाता है बेटे पने को भी तलाक हो जाता है मजहब और जाति को भी तलाक हो जाता है तो आप अपने को मुक्त अनुभव करना चाहते हैं मुक्त माने छुट्टा हाँ, पेंशन लेने के लिए रिटायर होंगे तब नहीं कुछ लोग है ना बोले भाई अब समय पूरा हो पंचाला हो गया अब रिटायर हो जाओ तो पेंशन मिलेगी वो पेंशन लेने के लिए रिटायर होने वाले नहीं मुक्त मुक्त माने छोड़ दिया छोड़ दिया तो आप छाती ठोंकते हो देखो बिल्कुल आप अपने मुक्त पने का अभिमान कर सकते हैं कि मैं मुक्त हूं ब्राह्मण पने से मुक्त क्षत्रिय पने से मुक्त वैश्य पने से मुक्त शूद्र पने से मुक्त मनुष्य पशु पक्षी पने से मुक्त पाप पूर्ण से मुक्त नरक स्वर्ग से मुक्त राजद्वेष से मुक्त सुख दुख से मुक्त जन्म जन्म मृत्यु से मुक्त आप अपने को मुक्त अनुभव कर सकते हैं क्या बस यदि आप अपने को मुक्त अनुभव कर सकते हैं तो आपके लिए सृष्टि में कोई बंधन नहीं है अब ये कहो हो कि गांठ को तो बांध के बैठे हैं पति पत्नी की गांठ बनती है ना ब्याह में या दूसरे काम में गांठ बांध के बैठे हैं और मन में सोच रहे हैं मुक्तो हम मुक्तो हम मुक्तो हम तो, तो हम तो ख्याली मुक्त हो गया ना भाई ये सृष्टि में जितने बंधन हैं सब ध्यानिक हैं ये मनुस्मृति का शब्द है वो सर्वम ध्यानिक मेवास्य तक अभिशब्दता जो कुछ कहा सुना जाता है ये सब ध्यानिक है ध्यान कर करके कि हम हम अमुख हैं हम अमुख हैं हम अमुख हैं अपने ऊपर जितने कर्तव्य के बोझ लादे गए हैं जब सचमुच आदमी कथा बन गया तब उसके पीठ पर छह मन का बोझ रख दिया गया आपने कौन सा अभिमान धारण किया है ये मत कहना कि हमारे अंदर अभिमान नहीं है हाँ, वो तो दो गाली देने पर आपका अभिमान निकल जाएगा हाँ, ब्राह्मण कहेगा कि हमारा अभिमान नहीं है ब्राह्मण पने का और उसको दो चार बार चंडाल बोल दो तब तो उसके भीतर जो सोया हुआ है ना सोया हुआ जो ब्राह्मणत्व है वो बिल्कुल जग जाएगा हाँ कोई तो में है आचार्य है वो कहता हम बिल्कुल अभिमान कोई अभिमान नहीं है तो जरा उसको दो चार दिन अनपढ़ मूर्ख कह के पुकारो तब देखो उसका आचार्य और रेमे का जो अभिमान है ना धनी कहेगा हमारे बिल्कुल अभिमान नहीं है हाँ और दो चार दिन उसको रोज दरिद्र कह के पुकारो दरिद्र कहीं घर हाँ? घर में तो खाने को नहीं घर में भूरी भांग नहीं आ, हाँ, बना फिरता है तो महाराज उसके भीतर जो अभिमान है आप ये मत समझना कि हम बिल्कुल निराभिमान हैं जब तक आत्मज्ञान नहीं होता हाँ, <laughs> इस बार एक पंडित जी थे उनसे हमारी बातचीत और वेदांत से जरा नफरत करते थे तो वृंदावन में थे दोनों महाराज की कुटिया में बैठ के बात करने लगे तो हम वेदांति हैं तो कट्टर वेदांति हैं बोला और भक्त हैं तो कट्टर भक्त हैं <laughs> अच्छा उनसे बात होने लगी मैं उतर गया वेदांत में तो बाद में उन्होंने कहा कि तुम तो बड़े अभिमानी हो तो मैंने कहा पंडित जी बिना अभिमान का कोई होता ही नहीं सभी के अभिमान होता है परमहंस रामकृष्ण ने कहा है कि बिल्कुल निराभिमान हो जाने पर ये जीव, जीव का जो शरीर